षष्ठ मंत्र हो गया था सप्तम चलेगा ये एम प्रेत चिकित्सा प्रश्न उसका उत्तर दिया गया उसकी निवृत्ति के लिए आगे कहते गुह्य गोप्य सनातन कहोगा योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येन संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम योनिम अन्य प्रपद्यन्ते देही न शरीरत्वाय देही देहधारी जीव शरीर ग्रहण करने के लिए योनि द्वार को प्राप्त करते कुछ अज्ञान के कारण स्थानुम अन्य अनुसंयति कुछ स्थानुत्व को प्राप्त करते स्थान वृक्ष आदि स्थावर जन्म को प्राप्त करते हैं के कौन योनि द्वार को मनुष्य पशु आदि बनते हैं कौन वृक्ष आदि बनेगा इसलिए कहते यथा कर्म यथा कर्म अनतिक्रम्य जैसे कर्म जिसने किया उसी कर्म के अनुसार श्रुतम अनतिक्रम यथा कर्म विहित अथवा निषिद्ध कर्म किया है विहित निषिद्ध दो में आ जाएगा पुण्य पाप कर्म उसके अनुसार प्राप्त करते यथाश्रुतम ये श्रवण चिंतन उपासना आ जाता है इसमें जैसे जिसने श्रवण किया जैसे चिंतन किया कर्म और उपासना के अनुसार ही योनि को प्राप्त करते हैं विहित चिंतन निषिद्ध चिंतन यथाश्रुत में आ जाएगा भाष्य में योनिम योनि द्वारम प्राप्त करते हैं शुक्र बीज संबंधित शुक्रात्मक बीज से युक्त होकर के तो जीव जब जन्म लेने के लिए पहले पिता के शरीर में अन्न के द्वारा प्रविष्ट हुआ फिर माता गर्भ में जाने के लिए शुक्रात्मक बीज से युक्त होकर के योनि के द्वारा जाता है अन्य किसी अविद्यावंत अज्ञानी है अन्य का तो कुछ अन्य के कुछ विद्यावंत मूढ़ा प्रपद्यन्ते वही मूढ़ा है अज्ञान भ्रांत है निषिद्ध विहित निषिद्ध कर्म करने वाले शरीरत्वाय शरीर ग्रहणार्थ किसका शरीर देहिन देहव अच्छा अन्य देहवंत अन्य देहिन शरीरत्वाय प्रपद्यन्ते का करता है देह वाले देह वाले देह में अभिमान रखने से देह धारण करने के लिए योनिम प्रविशन्ति इत्यर्थ गर्भ में फिर गर्भ में रह करके जन्म लेते हैं स्थानुम अन्य अनुसंयति स्थानुम का तो वृक्षादि स्थावर भावम स्थिर वृक्ष लता आदि तृण अन्य अत्यंत अधमा ये तो मूढ़ा अज्ञानी कहा ये और निकृष्ट है अथवा मरणम प्राप्य अनुसंयति अनुगच्छन्ति अनुपश्चात मृत्यु के बाद प्राप्त करते हैं यथा कर्म यद यस्य कर्म तत् यथा कर्म जैसा जिसने कर्म किया उसके अनुसार ही जाता है कौन मनुष्य बनेगा कौन पशु बनेगा कौन पेड़ बनेगा कौन नरक में जाएगा स्वर्ग में जाए जाएगा अपने कर्म के अनुसार ये रादृशम कर्म यह जन्म निकृतम तद्वसे नहीं थे तत् जिस प्रकार जैसे कर्म किया उसी के अनुसार ही आगे जन्म लेता है दूसरे किसी का कोई दोष नहीं है कभी किसी जन्म में जाता है अपने कर्म के अनुसार ही है तो कर्म बहुत है चौरासी लाख योनि है बहुत प्रकार जन्म है विभिन्न प्रकार कर्म फल भोग होता है एक जन्म में इतने कर्म करता है उसको भोगने के लिए कितने जन्म लेना पड़ता है बहुत कर्म होता है और विलक्षण विलक्षण कर्म कभी कैसा कर्म किया कभी कैसा कर्म किया कर्म विलक्षण होने से सब कर्म का फल एक जन्म में भोग नहीं कर पाएगा अलग अलग जोनि में जाता है विरुद्ध कर्म है एक जन्म में भोग हो नहीं सकता है अनेक जन्म में कर्म फल भोगना पड़ता है एक जन्म का कर्म पूरा भोगेगा फिर जन्म लेगा मनुष्य ऐसा तो भी नहीं है अनादिकाल से इस प्रकार बहुत कर्म पुण्य पाप कर्म है वो तो संचित कर्म रूप से रहते हैं कर्म फल देने के लिए किस कर्म कब फल देगा वो भी अपने निश्चय नहीं कि सब समान नहीं है कर्म का स्वभाव अलग-अलग है जैसे पेड़ पौधे बीज डालते हैं पेड़ होकर के फल फूल होना कोई निश्चित नहीं कि इतने साल में इतने महीना में ये हो जाएगा कोई जल्दी होता है कोई कितने साल में कोई महीना दो महीना में हो जाता है कोई बहुत साल लगता है कोई एक साल दो साल में कोई दस साल पाँच साल इसी प्रकार कर्म अपने अपने कर्म फल देने के लिए रहते हैं जब जो कर्म पक्को होता है तैयारी होने पर भी फल देने के लिए भी वो भी समय लगता है क्योंकि जन्म जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए बहुत कर्म तैयार हो गए फल देने के लिए किंतु एक जन्म के बाद एक जन्म प्राप्त करेगा एक साथ मनुष्य पशु पक्षी सब बन जाएगा अलग अलग होगा जैसे भोजन करने के लिए बहुत तैयारी है किंतु बैठ कर खाने के लिए जागा कम है तो एक साथ सब बैठ कर खा लेंगे जब थोड़ा जागा है रास्ता घुसने के लिए क्रम से घुसेंगे दरवाजे एक छोटा है एक एक कर जाएंगे जानना तो है किंतु एक दरवाजे में निकलने के लिए समय लगता है इसी प्रकार कर्म फल तो दे हो गए तैयार हो गए फल देने के लिए किंतु प्राप्त करने के लिए उसने जो बलवान है दौड़ कर आगे चल पहुंच जाते हैं पीछे कर दे अन्यों को एक दरवाजा है निकल कर जाना है एक साथ तो नहीं जा सकते हैं पहले जो खड़ा है वो पहले जाएगा पीछे वाला आगे जा सकता है हाँ, दौड़ कर पीछे वाला धक्का देकर आगे चल जाएगा इसी प्रकार कर्म भी जो प्रबल कर्म है वो पहले फल देगा दुर्बल कर्म उसको हट जाएगा बड़े आदमी में आएंगे तो हट जा रास्ता दे देते हैं नहीं देंगे तो धक्का देकर आगे चल जाएगा तो कर्म इसी प्रकार है फल देने के लिए कोई प्रबल कर्म पहले फल देगा कोई कर्म रह गया उसके बाद उस जन्म में कुछ कर्म किया इतने पाप कर्म किया उसको भी नरक जाना पड़ेगा तो पहले कुछ कर्म था स्वर्ग देने के लिए स्वर्ग देने के पहले कुछ मनुष्य जन्म मिल गया उसे इतने पाप कर्म के आगे नरक जाने के लिए पहले कौन कर्म फल देगा पूर्व कर्म स्वर्ग देने के तैयार है नया कर्म उग्र कर्म क्या नरक जाने के लिए तो प्रबल कर्म नरक जाने वाला तो नरक ले लाया स्वर्ग लेने वाला तो स्वर्ग लेगा और कोई कर्म यदि चाहे कोई पेड़ पौधा बनने का बाकी रह गया बहुत दिन से तो उसको दे देंगे चलो बन जाओ कांटे का पेड़ बन जाओ नहीं तो ऊट बन जाओ जो जिस प्रकार कर्म उपासना के अनुसार फल मिलता है उसमें कोई निश्चय नहीं है विचार नहीं कर पाते समझते हैं समाप्त होने के बाद किस जन्म में जाना है कि उसके निश्चय है किंतु अभी निश्चिंत बैठे हैं <laughs> कोई चिंता नहीं आगे तब तो होगा आगे क्या होगा थोड़ा विचार करें सर्व समाप्त होगा फिर किस जन्म में जाना पड़ेगा कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा वहाँ कहाँ उपनिषद श्रवण वेदांत चिंतन कोई पेड़ पौधा बन गया तो भेड़ बकरी बन गया ऊट बन गया गधा खच्चर बन गया वो काम करने में लग जाएगा शोर आदि जन्म में भी वो भी जीव कभी मनुष्य थे जितने पशु पक्षी देखो उनको देख करके विचार करो ये भी कभी मनुष्य थे अभी इस प्रकार है और कभी हम भी इस प्रकार थे अनादिकाल से सौ जोनि में फटका हुआ है इसी प्रकार कर्म उपासना के अनुसार ही जन्म को प्राप्त करते हैं जैसा जिसने कर्म किया इसी प्रकार तद वसन इत्यतद तथा च यथा श्रुतम यादृशम च विज्ञान उपार्जितम श्रुतम का तो श्रवण क्या श्रवण क्या तो ज्ञान होता है उसका चिंतन होता है वही विज्ञान उपासना है विज्ञान का तो उपासना जैसे उपासना अभी उपार्जितम उपार्जन किया जो फल भोग करते हैं ना पुण्य पाप कर्म का फल ये पुण्य पाप आपने उपार्जन करके साथ में लेकर गए आपका ही अधिकार है जो फल आपको मिलता है उसका कारण कर्म किसने किया था हाँ आपने उपार्जन करके आए कमा करके लाया है अब भोग कौन करेगा जो उपार्जन कर लाए वो भोग करेगा पुण्य अथवा पाप दोनों इसी प्रकार उपार्जन क्या है उपासना क्या है चिंतन करके तद अनुरूपमेव शरीरम प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थ उसके अनुसार चिंतन में ध्यान देवता आदि का ध्यान ये विहित है उपासना है ईश्वर का उपासना तीर्थाटन महापुरुष का ध्यान उपासना और निषिद्ध कर्म है कुछ निषिद्ध चिंतन दूसरे की निंदा करना अब मन से चिंतन करना नग्न स्त्री दर्शन आदि निषिद्ध है इसी प्रकार निषिद्ध चिंतन जिसने किया उसके अनुसार उसको जन्म मिलेगा यथा प्रज्ञ ही संभवा इति अंतरात यथा प्रज्ञ ही संभव प्रज्ञा अनतिक्रम यथा प्रज्ञम अपने प्रज्ञा ज्ञान उपासना के अनुसार चिंतन के अनुसार जैसे जो चिंतन करता है उसके अनुसार संभवा संभवमति उत्पद्यन्ते इति संभवा प्रजा यथा प्रज्ञामि संभवा प्रजा अपने चिंतन उपासना के अनुसार जन्म लेते हैं यत प्रतिज्ञातुम गुह्यम ब्रह्म थी तदाह पहले कहा था गुह्यम ब्रह्म सनातनम हंतत इदम ते हंतत इदम प्रवचा गुह्य ब्रह्म कहूँगा प्रतिज्ञा की अभी कहते हैं स एष य एष सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मीमाण तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः सिताः सर्वे तदो नात्यति कश्चन ए तद तत् ऐसे सुप्ते जागृति इंद्रिय प्राण आदि से सो जाने पर लीन होता है हो जाते उस समय जागता रहता है कामम कामम पुरुष निर्मिमान स्वप्न अवस्था में अपने इच्छा के अनुसार वासना में पुरुष निर्माण करते हुए विशेष स्वप्न विशेष प्रपंच वासना में बनाता हुआ जागता रहता है तदेव सुखम तद ब्रह्म स्वप्न दृष्टा रहता है जाग जागे रहता है वासना में मन के द्वारा मन का परिणाम मन ही स्वप्न रूप से परिणत तो हो जाता है वासना के अनुसार तो अपने में भी सुख दुख भोग होता है उसका कारण भी पुण्य पाप कर्म है वो सुख दुख विलक्षण है जागृत सुख दुख विलक्षण है किंतु जैसे कर्म ऐसे ही होता है ये निश्चय नहीं सपने में क्या देखना आज सुख मिलेगा दुख मिलेगा सुसुप्ति अवस्था में तो सब समान हो जाते हैं सम्राट हो भिखमागा हो स्वामी भृत्य सब बराबर है सुसुप्ति में गाढ़ निद्रा में सत्य समय भेदभान होता है ऊंचा नीचा बड़े बहुत उच्च स्थान में बड़ा अच्छा कीमत वाले सया पर कोई सोया हुआ है और कोई भूमि में पेड़ के नीचे लेटा हुआ है गाढ़ निद्रा में सोए हैं किसको ज़्यादा सुख मिलेगा मकान के अंदर बड़े कीमत वाले सया पर सोया हुआ है तो उसको ज़्यादा सुख मिलता है ये निद्रा गाढ़ निद्रा जब तक है तब तक बराबर है अच्छा सपने के अनुसार कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है वो भी सपने देखता है ये भी सपने देखता है सपन अवस्था में कभी सम्राट भीख मांगता है और सब उसको पटकाते भगाते हैं कभी सब भी सपना अवस्था भीख मांगा इंद्र बनकर बैठा है सम्राट बनकर बैठा है तो सपना अवस्था में धन सम्पत्ति काम करती है जिसके पास संपत्ति है मकान है राज्य है और गली गली घूमता है मांगता है भूखा हूँ मर जाऊंगा थोड़े भोजन खिला दो कोई नहीं कहते तो कल झूठा फूटा है तो कुछ भी दे दो वासी है रुखा सूखा कुछ भी दे दो वो खा लेता है खुश होकर खाता है भूखा है कौन सम्राट राजा गली में खड़े हो गए कुत्ते भगाते हैं भागता है फिर कोई दे दिया तो थोड़ा खा लिया गिर पड़ा तो भी उठा कर खा लेता है भूखा है तो स्वप्न अवस्था में धन संपत्ति साम्राज्य कुछ काम करता है सुख दुख भोग करता है अपने किसके अनुसार क्यों इतने दुख होगा सम्राट इतनी संपत्ति है और मांगता है फिरता है लोग फटकारते हैं कोई कुछ कहता है सहन करता है ये कर्म के अनुसार है उसमें भी अपने कर्म अभी के बुद्धि काम नहीं करती है जितना भी बुद्धिमान मन है स्वप्न में देखता है कभी क्या बन गया और जागृत अवस्था में जो बना हुआ उसमें अभिमान है कि मैं इतने बड़ा हूँ छोटा हूँ कोई मानता है वो भी कैसे बड़ा छोटा है अपने कर्म के अनुसार आगे जन्म में क्या बनेगा जागृत अवस्था में अभी जो बड़ा है आगे बड़ा बनेगा या पेड़ बनेगा <laughs> ये भी बड़ा बनेगा तो लंबा पेड़ हो सकता है <laughs> बड़ा हो जाएगा ये फिर कोई ठिकाना नहीं इसलिए अभिमान व्यर्थ है छोट नहीं करना चाहिए स्वप्न अवस्था में जो देखने वाला दृष्टा है वही शुक्र ब्रह्म तदेव शुक्रम तद ब्रह्म जो वासना में प्रपंच बन बना कर दिखता है तदेव अमृत मुच्य तो ही अमृत है नित्य पदार्थ है वही ब्रह्म है तस्में लोकाश्रिता सर्वे उसमें सारे लोक सारे ब्रह्मांड आश्रित है तदु नात्यति कश्चन उसको कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है वही से सबका अधिष्ठान ब्रह्म है उससे भिन्न कोई अतिरिक्त है ही नहीं उसको अतिक्रम करके कोई नहीं रह जाता है उसमें ही सब अध्यस्त है ए तद भी तत् यही वही ब्रह्म तुमने जो पूछा था नचिकेता को यमराज कहते हैं यह ऐसा सुप्तेषु प्राणादिषु जागृति न सपिति सो जाते मतलब लीन हो जाते हैं अपने कारण में प्राणादिषु जागृति प्राणादि सब लीन हो गए किंतु स्वयं जागता रहता है अंतकण भिन्न प्राण वायु सब लीन होते हैं अंतकण रहता है लेकिन नहीं तो जो चेतन साक्षी के सन्निधि मात्र से अंतकण में प्रेरणा कैसे होगा काम आदि आकर कामम कामम निर्मिमाण तो चेतन साक्षी रहता है अंतकण भी रहता है अंतकरण भिन्न भिन्न रूप बन जाता है सोता नहीं साक्षी चैतन्य स्वप्न अवस्था में स्वयं प्रकाश रहता है स्वप्न दृष्टा प्राणादि लीन होने पर भी जागता रहता है कैसे रहता है कथम कामम कामम तम तम अभिप्रेतम स्त्रियाद्यर्थम अविद्या निर्मिमाणो निष्पादयन जागृति पुरुषो यस तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम तद्ब्रह्म नान्यत गुह्यम ब्रह्मास्ति कामम काम काम है काम्यंते काम विषय कामना का विषय कर्मणि गय करेंगे तो तम तम अभिप्रेतम कामना का विषय है इष्ट विषय वो भी अपने कर्म के अनुसार बनाता है सपने में स्त्री आदि अर्थम स्त्री आदि स्त्री आदि स्त्री आदि हल चाहिए स्त्री आदि अर्थम स्त्री आदि भोग्य वस्तु को लेने के लिए स्त्री आदि दिया कभी भोजन कभी रूप रस गंध स्पर्श आदि जैसे शत्रु मित्र आदि सब बनाता है कामना के अभिप्रेत इष्ट इष्ट जो है उसमें भी अनिष्ट भी आ जाएगा पाप कर्म है तो इष्ट चाहता है कि अनिष्ट होगा पाप कर्म के अनुसार स्त्री आदि अर्थम अविद्या निर्मिमाण निर्माण करता अविद्या से अविद्या क्या है वो अविद्या स्वयं निद्रा रूप से अंतकरण रूप से अभिव्यक्त होकर के है वही अंतकरण रूप से निद्रा रूप से स्थित वही उससे निर्माण करता बनाता है निष्पादयन निर्माण करता निष्पादन करता है बनाता कुछ नहीं ऐसे ही अविद्या से दिखी जाता है जागृति पुरुष जो जागता रहता है वो पुरुष सोता नहीं है देखता है स्वप्न अवस्था में भी रहता है सुश्रुति में भी रहता है उसका लोप नहीं होता अविनाशी तत्व है नित्य ज्ञान स्वरूप ज्ञप्ति जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों को प्रकाश करता है जागृत अवस्था स्वप्न में नहीं स्वप्न अवस्था जागृत में नहीं किंतु स्वप्न दृष्टा चेतन जागर स्वप्न सुश्रुति तीन अवस्था में है वो जागता है वो सोता नहीं है वही अपना वास्तव स्वरूप है कहीं कहीं उसको कहते अपने परमात्मा तत्व तो परमात्मा तत्व तो वही है जो अपना पारमार्थिक स्वरूप है और परमात्मा मानो तो भी परमात्मा जागता है और स्वयं सो जाता है स्वयं सोता रहता है ये विपरीत है ना नियम परमात्मा तो स्वयं जागते है और ये सो जाता है इसलिए जितने आवश्यक है इतने सोना ज़्यादा नहीं सोना चाहिए वो जागता रहता है और वही चलाता है ये सो जाता है कौन रक्षा करेगा चिंता नहीं है सो जाने के बाद श्वास प्रश्वास चलेगा कहीं बंद हो जाए तो उसके लिए कोई चिंता नहीं वही रहता है जागृति सब स्वप्न प्रपंच बनाता है अपने कर्म के अनुसार बनाकर दिखाता है ये खुश होकर विषय भोग दिखता है सुखी दुखी होता है पुरुषो यह जो जागता रहता है स्वप्न दृष्टा तदेव शुक्रम शुक्र का तो शुभ्रम शुद्धम वही ब्रह्म है तदेव शुक्रम तद ब्रह्म वही शुद्ध है वही ब्रह्म है नान्यद गुह्यम ब्रह्माति अन्य कोई गुह्य ब्रह्म और दूसरा कोई ब्रह्म कहीं दूसरे स्थान में है ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा है वो भी सोपाधिक है शुद्ध ब्रह्म वही है जो स्वप्न दृष्टा दृग रूप साक्षी है क्षेत्र चापि माम विद्य सर्व क्षेत्र सारे क्षेत्र में क्षेत्र के रूप से भी ब्रह्म है अन्य कोई गुह्य ब्रह्म नहीं है जो सपनों को देखने वाला है जानने वाला सुसुप्ति का साक्षी है और जागृत अवस्था में जो बुद्धि को जानता है आप अपने बुद्धि को जानते हैं क्या है ना दूसरा कोई जानता है जो बुद्धि को जानने वाला आप बुद्धि को जानते हो ये देह वाले आप जानते हो बुद्धि को देह को भी आप जानते हो देह बुद्धि प्राण इंद्रिय अंतकरण अज्ञान ये सब आपके ज्ञेय है आप इनसे विलक्षण है बुद्धि को जो जानता सपनों को जानता हुई है वही सरस्वती का साक्षी है जागर सपन सरस्वती तीन अवस्था में दृग रूप चेतन एक है तो अभी कहते मैंने सपन देखा मैं गाढ़ निद्रा से सो गया कोई उसमें संशय नहीं है कभी संशय नहीं करता है सपन तो देखा था पता नहीं मैंने देखा या दूसरे ने देखा ऐसा कभी नहीं हमने देखा सपने में ऐसा और सो गया तो गाढ़ निद्रा में मिलता भूलता है मैंने सुसुप्त अवस्था में मैं ही था मैं कोई कह गया तो कहाँ गए हमको कल रात को बुलाया जगह नहीं कहाँ गए थे कहीं नहीं कमरा में था क्यों नहीं जगा ऐसा सो गया था सो गया था इतने बुलाया गाढ़ निद्रा में सो गया था अब ये नहीं कि सो जाने के बाद पता नहीं यहाँ था या कहीं गया था ऐसा नहीं स्वप्न देखते समय मैंने स्वप्न देखा जागने के बाद कहता है एक ही दीर्घ रूप चेतन है तीनों अवस्था में रहता है अवस्था का परिवर्तन होने पर भी उसका परिवर्तन नहीं होता है वही ब्रह्म है उस अतिरिक्त तो कोई ब्रह्म नहीं जो बुद्धि को जानने वाला स्वप्न दृष्टा है सरस्वती का साक्षी है वही है तदेव अमृतम अविनाशी उच्यते सर्वशास्त्र से सर्वशास्त्र में उसी को ही अविनाशी कहते हैं न ही दृष्टु दृष्टि विपरलोप विद्यते अविनाशीत्वात दृष्टा के जो स्वरूपभूत दृष्टि उसका विनाश नहीं होता है जो वृत्ति ज्ञान है जिस प्रकार आकाश की उत्पत्ति नाश नहीं होने पर भी घट की उत्पत्ति हुई तो घटाकाश घट नष्ट हो गया तो कहीं घटाकाश नष्ट हो गया घट के नाश होने से घटाकाश नहीं रहा इसी प्रकार यहाँ भी वृत्ति की उत्पत्ति होने से घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति की उत्पत्ति होने से वृत्ति विशिष्ट चेतना वृत्ति अभिव्यक्त चेतना जब तक तो वृत्ति है तब तक है वृत्ति नहीं तो वृत्ति अभिव्यक्त चेतना वृत्ति विशिष्ट चेतन नहीं कहा जाएगा घट ज्ञान पट ज्ञान नष्ट हो गया वृत्ति का नाश हो जाता है उसका नाश नहीं होता है दृष्टा की जो दृष्टि स्वरूपबुद्ध दृष्टि नित्य दृष्टि है घट ज्ञान पट ज्ञान दृष्टि तो अनित्य है वृत्ति आरूढ़ चैतन्य को वृत्ति अभिव्यक्त वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य को ज्ञान कह देते हैं गौण प्रयोग है मुख्यतः तो ज्ञान है स्वरूपभूत दृष्टि जो नित्य है अवस्थाओं का परिवर्तन होने पर भी दृग रूप चेतन है कि वो अमृत अविनाशी है किंच पृथ्वीवादय लोका तस्में लोका स्थिरता सर्वे सारे लोगों से मैं आश्रित है पृथ्वी आदि पृथ्वी भूर्भुव स्वादि चौदह भुवन उसमें ही सर्वे ब्रह्मणि आश्रिता तद ब्रह्म में उसी ब्रह्म में सब आश्रित है सर्वलोक कारणत्वात् तस्य तस्य सर्वेषां लोकानां कारणत्वात् उपादान कारण में भी कार्य रहता है सुवर्ण से बनाए गए भूषण सब सोना है कोई सुवर्ण को अतिक्रम करके दूसरा हो जाएगा ताम्र तो से बनाए गए जितने बर्तन बनाएंगे उसमें कितने चांदी हो जाते है पित्तल हो जाएंगे जो जैसा है ब्रह्म में आश्रित जितने उस ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं है सब उसमें आश्रित है आश्रित है तो भूतल में जैसे घट रखा गया भूतल अलग घट अलग इसी प्रकार ब्रह्म में सब आश्रित है ब्रह्म अलग सारे लोग अलग ऐसा नहीं है मिट्टी से घट भिन्न नहीं जिस मिट्टी से घट बना सुवर्ण से भूषण बनने पर उस भूषण सोना से भिन्न है या नहीं सोना से भिन्न होता तो सोना जितने था और भूषण मिलकर दोगुना सोना हो जाना चाहिए यदि कुछ इतने सोना दिया एक सौ ग्राम सोना दिया भूषण बना दिया भूषण भी सौ ग्राम सोना भी सौ ग्राम फिर आपको सोना दो सौ ग्राम सोना दे देगा उससे अतिरिक्त नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म से बना ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं ब्रह्म है कारण सारे लोगों का कारण कारण क्या है वास्तव कारण नहीं है क्योंकि कार्य मिथ्या है कारण भी ऐसा है माया से कारण कहा जाता है माया से कारण कहा तो जादूगर माया से बना दिया कुछ बना देता दिखा देता माया से वस्तु तो बना तो नहीं कल दिखा देता है कार्य भी मिथ्या है कारण भी मिथ्या है तो सत्य स्वरूप ब्रह्म को दिखाने के लिए और कोई है ही नहीं माया मिथ्या प्रपंच को आश्रय नहीं करेंगे और कुछ नहीं दिखा नहीं सकते ना तो शब्द प्रयोग कर सकते हैं ना किसी को दिखा सकते मिथ्या प्रपंच के बिना ब्रह्म से बिना क्या-क्या पदार्थ सत्य है और जो पदार्थ सब मिथ्या है उसी में ही ब्रह्म को उपदेश करना इसलिए कार्य प्रपंच दिखता है तो दिखाते हैं सब का कारण ही ही ब्रह्म है इन सब का कारण कहाँ है बताओ मिट्टी से घड़ा बहुत घड़ा सरा सारा बन गया पूछते जिस मिट्टी से बनी है मिट्टी कहाँ है दिखाओ जिस मिट्टी से घटा सो बन गया हजार घड़ा बहुत घड़ा बना कर कुलाल रखा है पूछते जिस मिट्टी से घट बनाए हो वो मिट्टी को थोड़ा दिखा दो लेकर जाएगा जंगल को दिखाने के लिए या कहाँ दिखाएगा वही मिट्टी वही है उसमें आश्रित सब कार्य बताइए सारे कार्य उसमें आश्रित उसमें ही है कोई देखता है उसके नीचे जो है वही होगा उसके नीचे तो लकड़ी रखी है वो लकड़ी से घड़ा बनाए क्या उसमें स्थित मतलब क्या है वही है उससे अतिरिक्त नहीं ब्रह्म में स्थित का अर्थ ब्रह्म ही है उसमें आरोपित तो है अध्यस्त है अध्यस्त होने के कारण अध्यस्त अधिष्ठान से अतिरिक्त उसकी सत्ता है ही नहीं अधिष्ठान को अतिक्रम करके अध्यस्त नहीं रह सकता है जिस मिट्टी से घड़ा बना वो घड़ा उसी मिट्टी के बिना कितने समय रह जाएगा इस तंतु से पटा बना पट बन जाने के बाद तंतु को फेंक दो पट को ओढ़ कर बैठो ठंडी के समय में तंतु को जला करके पट को ओढ़ लो गर्म रह गया ना नहीं जितने सौ तंतु जले उसकी गर्मी तो लगेगी पट की गर्मी नहीं हो तो ये ब्रह्म उसमें ब्रह्म में सब आश्रित है वो अधिष्ठान ब्रह्म है उसको अतिक्रम करके अध्यस्त वस्तु नहीं रह सकती अध्यस्त वस्तु उसी ब्रह्म में सर्वलोक कारणता तस्य तदुनात्यति कश्चन इत्यादि पूर्ववद उसको कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है अधिष्ठान से भिन्न कुछ है ही नहीं अधिष्ठान के बिना अध्यस्त नहीं रह सकता है उसमें आश्रित है तद नात्यति कसन एतद वितत वही सब का जो अधिष्ठान है तीनों अवस्था का साक्षी ब्रह्म वही है जो ने जो तुमने पूछा था अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद और जब मरने के बाद संशय पूछा था वही से आगे टीका में जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण विपर्याचेति नानात्मानो व्यवस्थिता इति अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात सर्वपुरवर्ती एक एव आत्मेत्यत्र न चित्तस्थर्यम संभवति आशंक्य शंका करते हैं ये सारे शरीर में एक ही आत्मा सर्वपुरवर्ती एक एव आत्मा सारे शरीर में एक ही आत्मा है अद्वैतवाद वेदांत में कहते इत्यत्र न चित्तस्थैर्यम संभवती चित्त से स्थर्य स्थिर से भाव स्थर्य चित्त की स्थिरता सुनते समय थोड़ा लग गया तुरंत अनेक दिखते हैं देखा है सारे शरीर सब एक ही आत्मा है बोल भी देते एक ही आत्मा है तुरंत सब भिन्न दिखता है भेद-भेद दिखता है कहाँ एक बुद्धि होती है अनेक है कोई खड़ा है कोई बैठा है कोई हंसता है कोई रोता है अलग अलग सब दिखते हैं सारे पुरुष में एक ही आत्मा ऐसे चित्त स्थिर नहीं होता है न संभव है ये सांख्यकारी का है सांख्य में सिद्ध करते अनेक आत्मा है जन्म मरण नाम प्रतिनियमाद जन्म मरण और कर्ण इंद्रिय सब अलग अलग है यदि एक ही आत्मा है एक जन्म तो सौ जन्म एक मर गया तो सब मर जाए एक चक्षु से सब चक्षु वाले हो जाए एक चक्षु नष्ट हो गया तो सब अंधा हो जाए एक चक्षु से देखता है सोया हुआ आंख बंद करके ये कैसे होता है कर्ण तो सो अलग अलग सब का है जन्म मरण अलग कोई मर गया कोई बैठा है कोई रो रहा है कोई हंस रहा है प्रतिनियमात प्रति प्राणी प्राणी अलग अलग है जन्म मरण कर्ण इंद्रिय सब भिन्न भिन्न इंद्रिय भी अलग अलग है कोई अंधा नहीं देख पाता कोई देखता है कोई आंख बंद किया कोई खोला रखा सबका कोई कान सुनता कोई नहीं सुन पाता है ये सब अलग अलग है जन्म मरण करना नाम यदि एक ही आत्मा होता तो सबका एक होना चाहिए जब एक मर गया सब मर जाएंगे एक ही देखता है तो सब देखेंगे एक आंख नष्ट हो जाने पर सब अंधा हो जाएंगे ये सब होना चाहिए ये नहीं होता है अयुगपत प्रवृत्तिश्च प्रवृत्ति भी एक साथ नहीं कोई प्रवृत्त होते कोई नहीं होता है कोई कर्म करता है कोई नहीं करता है कोई सत्कर्म करता है कोई निषिद्ध कर्म करता है कोई लेट सोया हुआ उठता नहीं कोई उठ करके प्रवृत्त होता है इंद्रिय की प्रवृत्ति एक साथ नहीं किसकी प्रवृत्ति होती किसकी नहीं होती है इसलिए ऐहिक पद एक साथ प्रवृत्ति नहीं होने से ऐहिक पद प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुतम सिद्धम पुरुषाणाम बहुतम चेतन पुरुष सब अलग है सिद्ध होता है नहीं तो एक साथ एक उठकर खड़ा होकर चलने लगा सब चलने चलना चाहिए एक मर गया तो सो मरे एक सो गया तो सो सो जाए ये तो नहीं होता है इसलिए पुरुषाणाम बहुतम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच त्रैगुण का विपर्य विपर्य होता है अलग अलग गुण भिन्न भिन्न है गुण का परिणाम होता है सत्व गुण से सुखी होता है रजगुण से काम क्रोध तम गुण से निद्रा आलस्य आदि उन गुणों का विपर्य विपर्य विपरीत भिन्न भिन्न है समय बराबर नहीं विपर्य अलग-अलग है कोई सुख से है कोई दुखी है कोई रो रहा है कोई क्रोध यदि एक ही है एक एक सुख परिणाम सुखी हो तो सब सुखी हो जाए एक दुखी हो तो सब दुखी हो जाए इतना तो नहीं होता है तो कहीं सात्विक परिणाम के राजस कहीं तामस गुणों का परिणाम बिना बिना होता है त्रैगुण विपर्याच विपर्यास इसी हेतु से विपर्याच पुरुष भौतों सिद्धम ये सब युगपद प्रवृत्ति नहीं होती है जन्म मरण कारण भिन्न भिन्न है और गुणों का परिवर्तन भी अलग अलग होता है इसलिए पुरुष भूतम सिद्धम इति नानात्मन व्यवस्थिता अनेक आत्मा है चैत्र मैत्र पंच पशु पक्षी आदि अलग अलग है कोई सुखी कोई दुखी कोई पीड़ता है मालिक बन करके कोई पत्थर ढोता है गधा खचर बन करके कोई ऊपर बैठ कर चलाता है घोड़े के ऊपर कोई दौड़ता है कोई खिलाता है कोई खाता है ये सब अनेक है कोई दुखी है कोई सुखी है ये सब उसे अनेक आत्मा स्थित है ये तो सामान्य लोक में प्रसिद्ध है अनेक आत्मा है एक ही से होगा कितने भेद है और एक होता है इतने भेद कहाँ से आए ये तो अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात् तर्क करने वाले बहुत तर्क करने वाले एक तरफ हो जाते हैं तर्क में न्याय में तो न्याय वैशेषिक एक तरफ है ही न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन में थोड़ा भेद तो भी कुछ कुछ समानता होने से एक तरफ दोनों मिल करके सबके साथ लड़ते हैं और अद्वैत वेदांत के साथ लड़ने का जो प्रसंग आता है तो सांख्य योग वो भी उधर चले जाते हैं भेदवादी है पूर्व मीमांसा बोलते हैं हाँ, हम भी तुम्हारे साथ हैं क्योंकि अद्वैत वाले को कोई समर्थन नहीं करते हैं और अद्वैत मानने वाले जितने हैं उनमें से कुछ कहते हैं नहीं नहीं हम भी तुम्हारे साथ हैं ये सन्यासी के साथ हम नहीं रहते ये त्रिपुंडधारी के साथ हम नहीं रहते उनमें से कुछ द्वैतवादी लोग उधर साधु बन इस तो इधर रहते हैं कभी जरूरत पड़ता है तो ये कहते स्वामी स्वामी तो वो भी स्वामी लगाते लगाने लगे दास जो लगाते थे ना तो देखते ये लोग स्वामी सब इनको बड़े कहते हैं काशा वस्त्र को द्वेष करने वाले भी आजकल काशा वस्त्र पहनने लगे इधर द्वेष करे लाल कपड़ा पहनते तो द्वेष करते थे किंतु जितने द्वेष करने पर क्या होगा अपने द्वेष करते करते थे फिर भी काशा वस्त्र वाले को सम्मान ज़्यादा मिलता है वही उन लोगों ने भी कुछ लोग काशा वाले लोगों को सम्मान करते आ द्वेष करते करते फिर अंत में फिर वही लाल पहनने लगे हिलाल पहनते और स्वामी भी लगाने लगे दास भी छोड़ते नहीं स्वामी हमको दास स्वामी भी दास है <laughs> दास तो नौकर स्वामी मालिक ये दोनों होते हैं तो भी जब जरूरत पड़ता झगड़ा करने के लिए हमारा मत तो उधर है इधर तो स्वामी कहेंगे किंतु मत तो उधर है <laughs> सब एक तरफ हो जाते हैं तार्किक बहुत ही है अद्वैत वेदांत मत में भी ये व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र बनाया गीता भी भगवान की एक है उपनिषद भी उसको अर्थ खींचतान करके अपने अपने मत लगाते जाते हैं अनेक तार्किक बुद्धि विरोधा तार्किक बुद्धि से सिद्ध होती आत्मा अनेक है सामान्य लोग कहेंगे एक कैसे होगा एक है तो आप क्यों तो हम खाते हैं आप चुपचाप बैठो आपका पेट भर जाएगा एक है तो एक मर जाए तो समझ जाएंगे एक एक है तो सौ सो जाए तो सौ सो जाए एक सौ तो एक जग गया तो सब जग जाए बड़ा डांट कर कहेंगे ये बुद्धि विरोधात ये जो आप सर्व सर्व में एक आत्मा ये चित्त स्थिर नहीं होता है संभव नहीं ऐसा शंका पर आशंक्य ये कहते ये कोई बड़ी बात नई बात आपने नहीं कही ये तो सब जानते हैं बचपन से सब भेद दिखता ही है अलग अलग सब दिखता है अलग अलग दिखता है घड़ा अनेक है और सब घड़ा में थोड़ा आकाश है तो घड़ा घट आकाश तो बहुत है तो आकाश में भेद सिद्ध करना चाहते हो क्या वास्तव पारमार्थिक भेद सिद्ध करो या औपाधिक भेद घट मठ गुहा करक कमंडलू इनको लेकर के भेद करना चाहते हो अशुद्ध शुद्ध आकाश में वेद करना चाहते हो उनसे पूछते हैं नाय न्याय करो को बताओ आप तो प्रधान है तार्किकों में घटाकाश मठाकाश करकाकाश ये भेद साहब के कर्ण सस्कुल वचन आकाश को श्रवण इंद्र कहते हैं कान के अंदर आकाश है सब के कान के अंदर आकाश एक है या अलग है क्या कहेंगे नए के तार्किक लोग एक है तो एक ही श्रवण इंद्रिय होगा सब के श्रवण इंद्र एक होना चाहिए एक श्रवण इंद्र कोई शब्द हुआ सब सुने सब सुनते हैं आपके श्रवण इंद्र कुछ शब्द हुआ वो सबको सुनाई पड़ेगा नहीं कोई कोई श्लोक बोलते तो अपने आप को ही सुनाई नहीं पड़ता है <laughs> दूसरे क्या सुनेगा कभी कभी जितने धीरे बोला दूसरे को पता नहीं चलेगा तीन बार चार बार पूछो तो भी कुछ नहीं हां हाँ, हाँ, ऐसे बोलते <laughs> कोई हलवा कहता था तीन चार बार पूछे फिर थक जाना पड़ेगा छोड़ दो बोलने वाले को स्पष्ट करना चाहिए क्या बोलना चाहते हो सुनने वाले को सुनाई ही पड़े इसलिए उच्चारण किया जाता है यदि उसको नहीं पता चले आप बोला तो व्यर्थ हुआ तो आपके कान में यहाँ कोई शब्द हुआ यहाँ सुनाई पड़ता है सारा ब्रह्मांड सब सब लोग सुनते हैं क्या एक ही आकाश है तो सबको सुनाई पड़ना चाहिए सबके सब कर्ण कान के अंदर आकाश एक है श्रवण इंद्र एक होना चाहिए फिर कहे नहीं नहीं उपाधि का भेद कहना पड़ेगा सब का कान अलग अलग है उसी को उपाधि भेद से घट अनेक है तो घटाकाश मठाकाश तो भिन्न भी नहीं औपाधि का भेद इसी प्रकार देहादि उपाधि के भेद से आत्मा भेद सिद्ध करोगे और शुद्ध आत्मा भेद सिद्ध करेंगे इस पर आकाश में घट मठ गुहा आदि के भेद से अनेक घड़े के भेद से घटाकाश भिन्न सिद्ध करते हो एक घट को तोड़ देंगे उसी में जो आकाश था वो घटाकाश उसको कहेंगे अभी नहीं कहेंगे तो सारा घट नष्ट हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे एक घट को तोड़ देंगे सौ घटाकाश नष्ट हो जाते हैं नहीं सौ घड़ा में जल भर दो <clears throat> चंद्र का में सौ घड़ा में दिखेगा एक घड़ा में छेद कर पानी चला गया चंद्र में दिखेगा तो एक चंद्र यदि नहीं दिखाई घड़ा में कहीं भी चंद्र नहीं दिखना चाहिए हजार घड़ा में एक में पानी चला गया तो चंद्र कहीं अन्य घड़े में दिखेगा एक ही तो चंद्र है सब घड़े में क्यों अलग-अलग दिखता है तो बिंब रूप एक है प्रतिबिंब नाना है शुद्ध एक है औपाधि का नाना है इसी प्रकार आत्मा में औपाधि का यदि नाना सिद्ध करते हो कोई आपत्ति नहीं है हम भी मानते हैं उपाधि के भेद मानते हैं सिद्धांति कहता है उपाधि के भेद साधने सिद्ध साधनम सिद्ध साधनम सिद्ध से साधनम जो हम कहते तुम ही सिद्ध करते हो तो कोई आपत्ति नहीं पीछे हमारे पीछे बैठ जाओ हम चला बन जाओ हम तो ही कहते तुमको हमें वही लेंगे जाएंगे भेद सिद्ध करना चाहते हो तो हम तो भेद कहते हैं उपाधि के भेद है ही नहीं समझ कर हमारा विरोध करते हो झगड़ा करने के लिए हम भी कहते हैं उपाधि के भेद मानते हैं नहीं मानते अद्वैतवादी उपाधि के भेद व्यवहारिक भेद नहीं मानते पारमार्थिक अद्वैत मानते हैं और तुम पारमार्थिक क्या नहीं समझ करके और व्यवहारिक में ले करके झगड़ा करते हो थोड़ा तो समझ लो भेद औपाधिक मानते हो वास्तव औपाधिक वास्तव नहीं समझ आता है तो चंद्र ऊपर आकाश अनेक गड़ा में जल भर दो देखो चंद्र प्रतिबिंब दिखता है सौ घड़ा में जल भरेंगे तो चंद्र का प्रतिम्ब दिखेगा आकाश में रख दे खोला स्थान में रख दे दिखेगा तो चंद्र सौ घड़ा में एक है अनेक है एक ही चंद्र सौ घड़ा में एक यदि पानी चला गया और किसी घड़ा में चंद्र नहीं रहेगा क्यों एक ही ना एक घड़ा में चंद्र नहीं दिखेगा तो और किसी घड़ा में चंद्र दिखना नहीं चाहिए तो फिर सौ घड़ा में चंद्र एक है अनेक है बोला फिर हैं एक है फिर भी एक है <laughs> ये घड़ा में नहीं देखा चला गया और अन्य घड़ा में कैसे रह गया एक ही चला गया तो अन्य में कैसे चला जाएगा <laughs> रह गया ये फिर कहना पड़ेगा हाँ वो एक बिंब रूप एक पति बनाना वास्तव एक है अद्वितीय और उपाधि के भेद है यहाँ समझ लो वास्तव चंद्र आकाश में एक है अनेक है एक घड़ा को हिलाएंगे तो सब घड़ा में चंद्र हिलता है क्या एक नष्ट हो गया तो चंद्र सौ नष्ट हो गए क्या तो यहाँ इसी प्रकार समझ लो बिंब रूप चेतन आत्मा एक है सब के घड़े शरीर जो है ना घड़ा है सब में जल है अंतकरण एक को सुख हुआ एक में कंपन हुआ तो सब घड़े मिलते हैं क्या एक में सुख एक में दुख एक में घड़ा में सुगंध रख दिया एक घड़ा में दुर्गंध सब घड़ा में सुगंध हो जाएगा एक घड़ा में धूप लगा दिया सब घड़ा में सुगंध हो जाएगा एक घड़ा में दूध तो रख दिया सब घड़े में दूध तो भर जाएंगे सब अलग अलग है बिंब रूप चेतन एक है प्रतिबिंब बनाना है उपाधि घड़ा घर देह सब भिन्न भिन्न है इसलिए आत्मा भिन्न भिन्न लगता है ऊपर चंद्र को नहीं समझ करके बच्चा कहता है सब में घड़ा चंद्र है कितने चंद्र है बहु चंद्र है जहाँ देखो चंद्र है सब घड़ा में चंद्र दिखता है घड़ा में जो चंद्र दिखता है उसको भेद करना चाहते तो हम भेद मानते हैं व्यावहारिक वास्तव जो चंद्र ऊपर आकाश में उसका भेद हो जाएगा ना नहीं इसी प्रकार औपाधि के भेद शांत सिद्ध साधन स्वाभाविक भेद साधन है व्यभिचार है अनेकांतिकत्वम क्योंकि जिस हेतु के द्वारा तुम भेद सिद्ध करना चाहते हो वो हेतु भेद नहीं रहने पर भी हेतु हम दिखा देंगे साध्य नहीं रहे हेतु यदि रह जाए उसको क्या कहते हैं व्यभिचारी साध्य कोई कहता धूम अवश्य है क्योंकि वन्य है जहाँ जहाँ वन्य है वहाँ वहाँ धूम रहेगा नहीं रहेगा बोलो हैं हाँ, रहेगा ना हाँ तर्क सहन नहीं पड़ने वाले बोलो जहाँ जहाँ वन्य है वहाँ अवश्य धूम निकलेगा निकलेगा ना निकलता है ना हीटर से धुआं निकलता है ना लोहा गर्म करने का तो लाल हो गया तो धुआं निकलता है वनी जहाँ जाए वहाँ वहाँ धूम निकलता है नहीं ये व्यभिचारी है धूम नहीं होने पर ही वनी रहती है आयुलोक में लौह पिंड में और वनी को देखकर कोई धूम सिद्ध करेगा तो क्या कहेंगे वन्नी है व्यभिचारी धूम अभाव वाले में रहता है वास्तव भेद नहीं रहने पर भी चंद्र में वास्तव भेद है क्या आकाश में चंद्र है कि वास्तव भेद है घड़ा में भिन्न भिन्न दिखता है किस में कंपन है किस में नष्ट हो गया किस में स्थिर है अलग-अलग दिखता है वास्तव भेद नहीं रहने पर भी भेद दिखता है प्रतिबिंब में जन्म मरण कर्ण सब अलग-अलग होता है उत्पत्ति नाश सब अलग-अलग सब घड़ा में जो चंद्र प्रतिबिंब सब की उत्पत्ति नाश एक साथ होती है क्या सब घड़ा में चंद्र दिखेगा एक साथ सब दिखेगा पानी भरे तो दिखे पानी नहीं तो दिखेगा क्या पानी नष्ट हो जाने पर एक साथ सब पानी नष्ट हो जाते हैं किसमें छेद हो पानी नष्ट हो गया जल्दी तो उसमें जैसे चंद्र अलग अलग घड़े में चंद्र की उत्पत्ति नाश अलग अलग होने पर भी चंद्र एक है स्वाभाविक चंद्र में भेद नहीं होने पर भी प्रतिबिंब में उत्पत्ति नाश कम कंपन स्थिरता सब अलग अलग दिखता है तो हेतु रह गया जन्म मन करना नाम अलग अलग चंद्र दिखता है एक घड़ा को लेकर चलेंगे तो सब घड़ा चलेंगे ये प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती है तो एक वास्तव भेद नहीं खोल करके औपाधिक भेद होने से सब में भिन्न भिन्न दिखता है व्यभिचार हेतु है स्वाभाविक भेद साधन से अनेकांतिकतम व्यभिचार उन दिखाने के लिए प्रक्रमते अभी श्रुति स्वयं आरंभ करके बताती है कि भेद उपाधि के भेद है वास्तव भेद नहीं है एक ही आत्मा होकर के अनेक प्रतिबिंब जिस प्रकार एक चंद्र होने पर अनेक प्रतिम्ब संभव है क्या अनेक प्रतिम्ब संभव है एक मुख आपका है अनेक दर्पण में अनेक प्रतिम्ब होगा इसी प्रकार दिखाएंगे एक वास्तव है किंतु अनेक दिखते हैं अनेक दिखने से अनेक नहीं होगा औपाधिक भेद है वास्तव एक होने पर औपाधिक भेद है एक प्रतिम्ब कहेंगे अथवा सब घड़ा के अंदर आकाश अलग-अलग सबके के कहानी के अंदर आकाश श्रवण इंद्रिय अलग-अलग है आकाश एक होते हुए भी इसी प्रकार श्रुति यहाँ दिखाएगी एक ही तत्व आत्म तत्व है किंतु कैसे उपाधि का भेद होता है औपाधि का भेद दिखाएंगे वास्तव भेद उससे सिद्ध नहीं होगा उपाधि को लेकर के भेद सिद्ध करेंगे पारमार्थिक सारे घड़ा भिन्न भिन्न है तो घड़ा में चंद्र का प्रतिभा भिन्न है इसलिए आकाश में चंद्र अनेक है है ना घड़ा में अनेक दिखता है तो आकाश में चंद्र अनेक है क्या एक ही आत्म आका, आकाश में चंद्र है प्रतिम्ब नाना है इसको समझने पर पूरा पूरा समझ ले एक ही आत्मा सब के अंदर बाहर है प्रतिबिंब वास नाना है ये दृष्टांत ये सब दे करके श्रुति स्वयं अभी बताएगी औपाधिक भेद है वास्तव भेद नहीं है एक ही आत्मा है स्पष्ट करके बताएगी क्योंकि यह संशय है स्वाभाविक और इतने दृढ़ है तार्किक रूप से मिल करके तर्क भी करके सिद्ध करते हैं समझदार व्यक्ति भ्रांत तो हो जाता है पहले से तो द्वैत बुद्धि है ही भेद बुद्धि है और तर्क करने वाले सिद्ध करते हैं तर्क इसलिए थोड़ा सीखना पड़ता है नहीं तो तार्किक लोग लेकर कहाँ पहुँचा देंगे तार्किक लोग जब मिल जाएंगे तो डर लगेगा थोड़ा सा तर्क समझे तो उनको ऐसे तुम अनुमान प्रयोग करो प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्न दृश्यवत रज्जु सर्ववत बड़े बड़े तारकीय सिर खुजलाने लगेंगे क्या हो गया ऐसा एक छोटे वाक्य में सीधा कह दिया प्रपंच मिथ्या और बड़ा क्रोध क्रोधी हो जाए डर जाए प्रपंच मिथ्या कैसे होगा ये सब आकाश पहाड़ पर्वत सब मिथ्या है सीधा सारे प्रपंच की तरफ करके वेदांति कहता है प्रपंच मिथ्या दृश्यवाद स्वप्न दृश्यवत जैसे स्वप्न दृश्य मिथ्या है ये सारा जागृत प्रपंच मिथ्या है भेद सिद्ध करते हो तुम अब उपाधि का भेद दिखा दिया बिंब प्रतिम्ब यहाँ उपाधि में भेद दिखता है तो तुम बताओ आकाश में शब्द रहता है तार्किक लोग से पूछो शब्द भिन्न भिन्न है तो आकाश भिन्न भिन्न हो गया क्या एक ही आकाश माने के शब्द रहता है इसी प्रकार प्रतिम्ब नाना है बिंब एक आत्मा एक दिखते हैं अलग अलग है और उपाधि का भेद माना जाता है वास्तव भेद नहीं है यहाँ श्रुति स्वयं दृष्टान्त दे करके समझाती है उपाधि के भेद वे वास्तव भेद आत्मा में नहीं है ओम सहना भवतु